जुगत जुगत की तृषा बुझाने कर्म मर्म अघ व्याधि टरे सब पाप कर्म इत्यादि सब समाप्त हो गए सब जल गए कहे कबीर सुनो भई साधु अमर हो कबू न मरे इस दस में द्वार को जिसने जान लिया वो अमर हो गया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है धर्म अमृत की खोज है अमृत दस में द्वार का अनुभव कैसे तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी जीवन शक्ति पहले द्वार से उठे और दस में तक पहुंच जाए यही सारी ध्यान विधियों का लक्ष्य यहां हम कुंडलनी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं वो ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को पहले द्वार से उठाकर दस में तक ले जाने का मार्ग है इसलिए पहले दस मिनट तुम शरीर को कपाते हो कपाने का अर्थ है कि जो जो ऊर्जा जहां जहां दबी पड़ी है वो पिघल जाए जहां जहां रुकी पड़ी है वहां वहां से गतिमान हो जाए अगर तुमने ठीक से शरीर को दस मिनट तक संपूर्ण भाव से कपाया तो सारी दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी बहने लगेगी फिर दूसरे चरण में नृत्य है नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ वो आनंद भाव में रूपांतरित हो तुम नाचो जैसे तुम एक उत्सव में हो जैसे कोई महा घटना घटी है जैसे तुम्हारे जीवन में कोई प्रकाश उतरा है तुम नाचो आनंद भाव से क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती है जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो तो अगर तुम मस्त हो गए नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए ऐसा कंजूस का नाच उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है कि क्या करें अब आप हंसे हैं या कि देख लें शायद कुछ हो ना ऐसे नहीं चलेगा ऐसा कुनकुना काम काम नहीं आएगा त्वरा चाहिए नाच रहे जैसे पागल होकर पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई है ऊपर की तरफ बह रही आनंद मग्न होने का अर्थ यह है कि ऊपर की तरफ बह रही क्योंकि आनंद का भाव ही ऊपर की तरफ बहने से होता है जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है उतनी ही जीवन में नरक उतरता है इसलिए हम कहते हैं नरक नीचे स्वर्ग ऊपर उसका मतलब कुल इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नर्क और दसवें द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं जब तुम्हारी ऊर्जा पहले द्वार से नीचे गिरती है तब तुम अपने जीवन में नरक पैदा कर रहे हो और जब तुम्हारी ऊर्जा दस में द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती है तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया दोनों तुमने छिपे जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे सारा शरीर खो जाए सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसके लिए और सुगम हो जाए वो दसवें द्वार पे टक्कर मारने लगे कुंडलनी का पूरा प्रयोग दसवें द्वार पर टक्कर मारने का है अगर तुमने ठीक से किया तो तुम भी कह सकोगे जुगत जुगत की त्रसा बुझानी कर्म मर्म अगिदात तरे कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर होए कबू न मरे